الكتاب तैतृपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम मंत्र के उपोदघात के ऊपर भाष्य आरंभ हुआ है पूर्व प्रकरण के निष्कर्ष निकला है पूर्व अध्याय का एक ही आत्मा तीनों कालों में है सृष्टियादि की जो चर्चा हुई है उसमें तात्पर्य नहीं है अर्थवाद है अथवा भूतार्थवाद लेकर के तात्पर्य मानते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं व्यावहारिक सत्ता को लेकर के कहा गया है जैसे माया भी माया भी अपने ढंग से बनाता है उस ढंग से भी माना जा सकता है सृष्टि आदि में तात्पर्य नहीं अथवा भूतार्थवाद है विरोध नहीं है गुणवाद में विरोध भी नहीं और अनुवाद भी नहीं भूतार्थवाद मान सकते हैं उसको मैंने व्यवहार में बाद नहीं होता उसका किंतु तो परमार्थ में सृष्टि आदि में तात्पर्य नहीं है एक ही आत्मा है तीनों कालों में अबाधित निर्विशेष आत्मा है यह सिद्ध हुआ है प्रथम अध्याय अब उसको लेकर के शंका आती है आत्मा तो तीन होता है एक कैसे आत्मा है एक जीव आत्मा एक ईश्वर आत्मा एक निर्विशेष आत्मा तीन आत्मा है तो एक ही आत्मा कैसे एक शंका आ जाती है इसी का उत्तर आगे देना है तो ये शंका चल रही थी ननो त्रय आत्मान हो आत्मा तो तीन है कैसे एक ही आत्मा है पूर्व अध्याय का निष्कर्ष निकला एक ही आत्मा है भूत भविष्य वर्तमान तीनों अवस्था में एक ही आत्मा है उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है जो सृष्टि आदि की चर्चा हुई है आत्मा है उसमें कोई तात्पर्य किसी प्रकार से उस आत्मा को ज्ञान कराने में तात्पर्य था इसके लिए बता दिया तो देहादि निर्माण के माध्यम से देहादि के भीतर ही उसको दिखाना था इसके लिए कहा गया तो ये कहने पर शंका ये ननो त्रय आत्मानो हो आत्मा तीन है भोक्ता कर्ता संसारी जीव एक सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध है एक भोक्ता है कर्ता है भोक्ता है कर्मादि करता है तर्जन फल भोगता है संसार में घूमने वाला है संसारी है जीव है वो एक, एक आत्मा है लोक में भी प्रसिद्ध है और शास्त्र में प्रसिद्ध है जीवात्मा के बारे में और दूसरे आत्मा है ईश्वर जिसको बोलते हैं अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान और लोक देह निर्माण लिंग ये शरीर आदि जो बनाता है शरीर आदि बनाने के पूर्व में इसके लिए आश्रय बनाता है लोग अनेक प्रकार के प्राणी हैं एक प्रकार के रहे भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर हैं भिन्न भिन्न प्रकार के उनका आश्रय है ये सब बनाने वाला कोई व्यक्ति है जैसे एक मकान बना हुआ मकान देख करके एक शिल्पीकार के अनुमान से शिल्पीकार सिद्ध होता है यदि कोई व्यक्ति ना होता तो मकान नहीं बनता इसी प्रकार इतनी बड़ी जगत बड़ा जगत बड़ी जगत की व्यवस्था है भिन्न भिन्न प्राणी हैं भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर है और भिन्न भिन्न प्रकार का आश्रय देना है उनको और अन्न भिन्न भिन्न प्रकार के देना है उनके खाद्य पदार्थ भी अन्न भिन्न भिन्न प्रकार के तो ये सब करने वाला कोई ना कोई है जो है उसको ईश्वर कहते हैं अनेक प्राणी एक ही प्राणी में अनेक प्रकार के प्राणी हैं चौरासी लाख तो नहीं अच्छा कर्म फल उनके जो कर्म हैं प्राणियों का जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के कर्म हैं उनके फल भी अनेक प्रकार के होंगे किस शरीर में कैसा फल भोगना है उसके उपभोग के योग्य अनेक अधिष्ठानवत लोकदेह निर्माण लोकदेह का निर्माण होगा उसके अधिष्ठान वाला जहां रह करके काम कर पाएंगे इस लिंग के द्वारा यथाशास्त्र प्रदर्शन शास्त्र में भी ईश्वर के बारे में प्रसिद्धि है केवल अनुमान से सिद्ध होना नहीं शास्त्र में प्रसिद्ध है पूर्व पुरप्रसादादि निर्माण लिंगे न तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षिणादि विवाह जैसे शहर बनाता है कोई बना हुआ शहर देख करके या मकान महल देख करके इसके निर्मित कार्य को देख करके उस विषय के कुशलता की ज्ञान वाला कोई व्यक्ति था जिसके रचना में बना है ऐसा ज्ञान हो जाता है ठीक इसी प्रकार ईश्वर सर्वज्ञ करता द्वितीय चेतना आत्मा बनते ईश्वर दूसरा चेतना है एक तो जीवात्मा है दूसरा जगत निर्माण रूपी लिंग के द्वारा जाना जाता है ईश्वर और तीसरा होता है ये तो बातों निवर्तन देकर के जो वाणी मनवाणी का विषय से निषेध कर देते हैं जहां मनवाणी पहुंचती नहीं कहा है वेदांत के आत्मा विशेष आत्मा ये यथो बातों थे और नेति नेति कहा निषेध करके मूर्ता मूर्त सब निषेध होने के बाद जो अस्तित्व बचेगा वो आत्मा होता है सब निषेध करना विशेष सारा जितने विशेष होगा सबका निषेध होगा विपसा पे है इतना सारा निषेध होने के बाद जो बचेगा तो इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष तृतीय उपनिषद में जिसकी प्रसिद्धि है वेदांत में जिसकी प्रसिद्धि है उसको औपनिषद कहा जाता है ऐसे आत्मा तृतीय आत्मा है एवं एते त्रय आत्मानो अन्य विलक्षण ये तीनों आत्मा अन्य विरुद्ध धर्म वाले हैं एक निर्धर्मक है और एक सृष्टि आदि कर सकता है सर्वज्ञ है अगमज्ञ है विरोधी है सब विरुद्ध धर्म वाले हैं एक तो धर्म है ही नहीं एक धर्म है निर्विशेष आत्मा बाकी एक सर्वज्ञ है तो एक अल्पज्ञ है जीवात्मा अल्पज्ञ ईश्वर सर्वज्ञ है वो तो सृष्टि आदि कर सकता है इतने बड़ी भारी व्यवस्था बना सकता है ये सामान्य व्यवस्था भी नहीं कर सकता विरोधी धर्म वाले हैं अन्य अन्य विलक्षण एक विलक्षण है ये एक देश विलक्षण तत्र कथम एक एव आत्मा अद्वितीय असंसारी ज्ञात शक्य थे जब ये ऐसी स्थिति है तीन प्रकार के आत्मा है विरुद्ध धर्म वाले हैं फिर उस स्थिति में आपने कैसे कहा कि एक ही आत्मा है असंसारी है कैसे जाना जा सकता है ये तो असंभव है यहां तक शंका है इसके आगे उत्तर वाक्य आएगा टीका से देखना इसके आत्माइकम एवं अश्य अध्याय अध्याय से अर्थ इति हुआ पूर्व में ये सिद्ध हुआ है पूर्व अध्याय का निष्कर्ष निकला है एक ही आत्मा है और कुछ नहीं ये बताने में तात्पर्य सृष्टि आदि में तात्पर्य नहीं ये कहा था सृष्टि आदि जो कहा तात्पर्य नहीं उसमें वो तो उसके माध्यम से आत्मा को ज्ञान कराना इष्ट है इसके लिए कहा गया था आत्मैकम एवं अश्य अध्याय से अर्थम पूर्व अध्याय जो चतुर्थ अध्याय चल रहा था वंशत क्रम में प्रथम अध्याय था वो उसका अर्थ है उति उत्वा एतदेव स्थिरी कर तुम आशंका इसी को स्थिर करना है इसलिए पहले शंका करवाते हैं इसी बात को सिद्ध करना है आत्मा एक ही है और कोई कुछ भी नहीं है निर्विशेष एक ही आत्मा है यही सिद्ध करना है इसके लिए शंका करवाते हैं शंका इसी को मजबूत करना है कैसे होगा थोड़ा निखन न्याय होगा ना जब पूर्व पक्ष बन करके शंका के द्वारा समाधान होगा तो पक्का होगा उसका थोड़ा निखन न्याय जब फूटा गाड़ना होता है तो जितने पानी डाल डाल के हिला हिला के गाड़ेंगे तो गहरा में पहुंच जाएगा मजबूत होगा वैसे न्याय युक्ति है पूर्ववादी न हो तो सिद्धांत के इतना मजबूती नहीं आती है पूर्ववादी बीच बीच में शंका उठाएगा तो सिद्धांत की मजबूती हो जाती है इसके लिए शंका करते हैं कहा नानुवादी शंका हो गई ठीक है तो शंका में कहा था जीव ईश्वर निर्विशेष ब्रह्मचैती त्रय आत्मा में त्रय एवं आत्मा ने कहा तीन आत्मा कौन है एक जीवात्मा है एक ईश्वर आत्मा है एक निर्विशेष ब्रह्म है तीन आत्मा है फिर एक ही आत्मा है कैसे बोला आपने पूर्व यही पूर्वादी की शंका में तत्र जीव क्या है तो कहते जीव हो अहम करता इति लोग लोक में मैं काम करने वाला हूं करके जो बोलता है वो जीव होता है अहम करता इति लोक ये वही दृष्टा प्रष्टा ये सही दृष्टा प्रष्टा ये जे तो स्वर्गधाम इत्यादि शास्त्र शास्त्र में भी इसको ये सही प्रष्टा ये सही प्रष्टा कहा देखने वाला यही है छूने वाला यही है सब कुछ करने वाला यही जीव के लिए कहा और ये जे तो स्वर्गधाम स्वर्ग जाने वाला जीव ही तो होगा और कौन होगा क्या क्या करे ये शास्त्र में प्रसिद्ध है लोक में तो प्रसिद्ध है अहम करता मैं करता हूं ऐसा मानता है वो जीव होता है जो मान्यता है जिसके और शास्त्र में है ऐसा ही दृष्टा प्रष्टा ऐसे तत्वकाम इत्यादि है यही दृष्टा है यही प्रष्टा है देखने वाला यही है स्पर्श करने वाला यही है छूने वाला यही है इत्यादि करे कहा और ये तो स्वर्ग काम स्वर्ग चाहने वाला याद करे कहा कौन चाहता है स्वर्ग ये शरीर स्वर्ग नहीं चाह सकता शरीर तो यही रहने वाला है स्वर्ग जाने वाला नहीं है तो इसको उद्देश्य करके याद करना बनेगा नहीं तो इसमें रहने वाला कोई वस्तु है जो कि शरीर पात होने के बाद स्वर्ग में जाके शरीरांतर ग्रहण करके फल भोगेगा वो जीवात्मा है वो एजेत तो स्वर्ग काम हमें वहां पर एजेत तो स्वर्ग काम का अर्थ होता है जीव जीवात्मा ही होता है स्वर्ग चाहने वाला जीव है वहां ये तब शरीर में बैठ इस शरीर में बैठ करके कर्म करेगा यज्ञ आदि करेगा और उस शरीर में बैठ करके फल भोगेगा वो एक ही होता वो शरीर तो ही भस्म होने वाला है ये स्वर्ग चाहने पर भी जा नहीं सकता है तो जीवात्मा की चर्चा है वहां ये तो स्वर्ग काम एक ये तो अच्छा सप्रसिद्ध भोक्ता एक त्रयाणाम मध्य एक तीन में से एक तो यह है जो लोक में भी प्रसिद्ध है अहंकर्ता रूप से और शास्त्र में प्रसिद्ध है ये सद्रष्टा प्रष्टा इत्यादि कहा है और ये स्वर काम इत्यादि वाक्य में सिद्ध किया है ये जीव त्रया मध्य एक और दूसरी बात यो लोक देह लोक दोह देह निर्माण है ना लिंगे ना अवगम है सत्सर्वज्ञ जो आत्मा लोक सृष्टि करके शरीर सृष्टि करता है शरीर के भोग के भोग के अनुसार सृष्टि कर देता है शरीर सृष्टि करने वाला जो होगा वो ईश्वर आत्मा जाना जाता है दूसरे आत्मा यह है ये शंका में है सारे यो लोक देह निर्माण है ना जो व्यक्ति ऐसा है जो आत्मा लोक निर्माण और देह निर्माण चौदह भवन के निर्माण किया तीन लोगों के निर्माण फिर शरीर उन लोगों में रहने वाले शरीरों का निर्माण इस निर्माण कार्य को देख करके कोई ना कोई करता होगा इसका कि शरीर आदि बनाने वाला और लोग लोग बनाने वाला कोई करता है जो वो करता है सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता है काम कोई ईश्वर है ये सिद्ध होता है या अनुमान से सिद्ध होता है ईश्वर ये बोलना चाह रहे हैं ये जो लोकोदेह निर्माण में लिंगेना अवलंबित है तो लिंग मान हेतु इस हेतु के द्वारा निर्माण रूप कार्य के द्वारा कर्ता का अनुमान होता है वो ईश्वर है सर्वज्ञ है ईश्वर है कहा सद्वितीय इतिहास वो द्वितीय है दूसरा आत्मा है ये तो जीवात्मा हो गया ईश्वर आत्मा इसीलिए कहा अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान लोक निर्माण देह निर्माण योग्य यथाशास्त्र प्रदर्शित आदि आदि दृष्टान तो कहते अनेक लोक देह का अर्थ अनेकेशम विचित्राणाम प्राणीनाम अनेक प्रकार के प्राणी हैं एक प्रकार के नहीं है प्राणी शरीर एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार के हैं चौरासी लाख तो योनि है माने समुदाय है चौरासी लाख उनमें भी एक एक में असंख्य प्राणी है एक एक योनियों में चौरासी लाख में से एक मनुष्य है तो एक मनुष्य में भी कोई गिनती नहीं कर सकता कितने मनुष्य हैं भूमंडल में संभव नहीं है वैसे तो पक्षियां ऐसी है नाना प्रकार के पक्षियां हैं नाना प्रकार के जल जंतु हैं वनस्पति आदि हैं कहां से गिन पाएंगे वो तो शास्त्र में कहा इसलिए मानना पड़ता है चौरासी लाख योनि <clears throat> अनेक ऐसा विचित्राणाम अनेक का अर्थ विचित्र है माने वैचित्र है जगत वैचित्र है प्राणी एक प्रकार के प्राणी नहीं है अनेक प्रकार के प्राणी होंगे सामान्य रूप से एक सामान्य रूप हम चिड़ियाघर में जा करके देखते हैं तभी लगता है कि प्रभु की ऐसी भी सृष्टि है ऐसा लगता है क्या क्या दिखाई पड़ता एक सामान्य है क्या चौरासी लाख में क्या वहां एकत्रित किया उन्होंने दस पंद्रह प्रजाति है वहां चिड़ियाघर में दस पंद्रह प्रजाति पाए जाते हैं तो उसी को देख करके एक आश्चर्य लगता है कि मानना पड़ता है कि कोई ना कोई तत्व है ऐसा लगता है तो ये तो अनेक है विचित्र है प्राणी एक आकार के नहीं है उनका खाद्य पदार्थ अलग भिन्न भिन्न है रहने का स्थान भिन्न भिन्न प्रकार के हैं कोई पानी में रह रहा है कोई जल में है कोई थल में है कोई आकाश में है कोई पेड़ में रहता है कोई जमीन में रहता है भिन्न भिन्न है नाना प्रकार के हैं प्राणी नाम अनेक ऐसा विचित्राणम का अनुमान यानी अनेकानी विचित्राणी कर्म फलानी उनको भोग भोगना है कर्म किया हुआ है पहले उसका फल भी अनेक विचित्र हैं भिन्न भिन्न प्रकार के हैं कोई नरक आदि में हाई हाई कर रहा है कोई स्वर्ग में आनंद ले रहा है वो भी स्वर्ग का स्तर भी एक नहीं है नरक का स्तर भी एक नहीं है साथ ही है वहां भी ऐसा विचित्र है कर्म फलानी तब उपभोग योग्यानी उस फल को भोगने के लिए योग्य शरीर मानवादी शरीर कोई पशु शरीर हो मानव शरीर हो जैसे कर्म का फल भोगना होगा उसके आधार पर शरीर बना देना पड़ेगा तो आदि शरीर है यानी अनेक आनी विचित्राणी अधिष्ठानी या विचित्राणी नकार है किंतु रकार होना चाहिए पाठ में क्योंकि क्र है रकार है पूर्व में एक पद है विचित्राणी ऐसे नकार दिखना चाहिए नकार छपा हुआ है जो भी विचित्राणी अधिष्ठानी विचित्र जो अधिष्ठान है शरीर है हाँ, थान विशेषा तो लोग मान प्राणी के थान विशेष जहां बैठ करके प्राणी भोग करेंगे लोक हो जाएगा यहाँ लोका देहास जहां बैठ के कर्म का फल भोगना है वो लोक और शरीर ये सब के साथ तेसा निर्वाण लिंगन ये सब जो बना रहा है कोई व्यक्ति बनाता है निर्माण कार्य को देख करके ईश्वर है क्या होता है इदम विशेषण कर तो सर्वे ये इतना विशेषण जो दिया है ईश्वर के लिए हाँ, क्या अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान लोग निर्माण इत्यादि जो विशेषण दिया ये विशेषण किया कर्ता सर्वज्ञ है सभी जानता है तभी तो इतना बड़ा काम कर पा रहा हो वो सर्वज्ञ है कर्ता जगत कर्ता सर्वज्ञ है ये सिद्ध करने के लिए इतने विशेषण दिया गया जगत का बनाने वाला सामान्य ज्ञान वाला नहीं है वो सर्वज्ञ है सबके लिए व्यवस्था कर रहा है ये सिद्ध किया ईश्वर के लिए सर्वज्ञ माना दूसरी बात शास्त्र में भी ऐसे प्रदर्शित है ईश्वर के बारे में यथा शास्त्र प्रदर्शित है ना ये कहा ये तो एक अनुमान से सिद्ध हुआ ईश्वर है करके अभी ये तो हमारी कल्पना हो गई जगत रूपी निर्माण को देख करके कोई करता है वो करता ईश्वर है वो सर्वज्ञ है ऐसा ज्ञान हुआ दूसरी बात शास्त्र में प्रसिद्ध है यथा शास्त्र प्रदर्शित है ना शास्त्र में जैसे दिखाया है क्या सईमान लोकान अश्रीजत इत्यादि शास्त्र में है सब माने परमेश्वर उसने इन लोगों की सृष्टि की यही इसी उपनिषद में कहा था प्रथम अध्याय साहिमान लोग आने से जैसा अंगो मरम मरमाप इत्यादि शास्त्र में भी प्रसिद्ध है स इमान लोकान असृजता इत्यादि शास्त्र प्रदर्शन है शास्त्र में भी लिंग ही दिखाया लोक निर्माण के द्वारा वही ईश्वर का ज्ञान होना है ये कहा अनुमान दृष्टांत महा जो अनुमान दिया था उसमें दृष्टांत देते हैं दृष्टांत क्या है जैसे कोई शहर बना हुआ देख करके या महल बना हुआ देख करके उसके बनाने वाले का हनुमान से सिद्ध कोई ना कोई करता था तभी बनाया नहीं तो नहीं बना सकता यही है पूरा प्रासाद आदि निर्माण लीजिए ना तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षादि यही दृष्टांत है जैसे शहर को देख करके अथवा माहौल को देख करके उसके जानने वाला कुशल कोई कारीगर था नहीं तो नहीं बनता ऐसा मानी उसी द्वारा जब निर्माण देखा तो कोई कर्ता का ज्ञान हो जाता है लोग उसी प्रकार यहाँ भी जगत रूपी निर्माण को देख करके ईश्वर का ज्ञान हो जाता है अनुमान नहीं अचेतनम प्रधानम स्वयं विचित्र जगदाकार परिणमते न तो अनुमाने अनुमाने न तो सर्वज्ञ अधिष्ठाता कथित सांख्या तन निराशाया कहते हैं सांख्य लोग कहते हैं इसके लिए कोई अनुमान के द्वारा सर्वज्ञ परमेश्वर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है प्रकृति स्वयं अनेक प्रकार से हो जाती है सृष्टि के आदि में एक प्रकृति है जिसको हम प्रधान बोलते हैं माने तीनों गुणों का सामने अवस्था है वो प्रधान है जब सृष्टि काल में विक्षेप हो जाता तीनों में उथल पुथल हो जाते तीनों गुण तब सृष्टि होती है तो शांत हो जाते हैं वही तीनों गुणों को प्रधान करके बोला जाता है शांत अवस्था में प्रलय अवस्था में तीनों काम नहीं कर रहे हैं हलचल नहीं है तीनों में उस अवस्था का नाम है प्रधान तीनों गुणों से अतिरिक्त प्रधान नहीं है तीनों गुणों को ही प्रधान नाम है जब सृष्टि काल में आ जाते तो गुण शब्द से कहा जाता है उसको सृष्टि के पूर्व काल में देखते हो प्रधान नाम से सांख्यों का ये कहना है तीनों गुणों से अतिरिक्त तत्व नहीं प्रधान तीनों गुण ही है हलचल नहीं है शांत अवस्था में है सृष्टि के पूर्व में स्तब्ध है तीनों गुण कार्य नहीं कर रहे हैं वही प्रधान है तो सांगे लोग कहते हैं जगत का कारण तो अचेतन प्रधान है ये कहते हैं अचेतनम प्रधानम जो अचेतन प्रधान है स्वयं विचित्र जगदाकार स्वयं ही उसके लिए कोई निमित्तांतर की आवश्यकता नहीं है स्वतः ही अपने आप जगत के आकार से परिणाम को प्राप्त हो जाती हो जाता है न तो सर्वज्ञ अधिष्ठान उसके जगत बनाने के लिए कोई सर्वज्ञ चेतन के आश्रय नहीं चाहिए चेतन की आवश्यकता नहीं है कश्य कोई भी नहीं यदि सांख्या सांख्य लोग ऐसा कहते हैं माने ईश्वरवादी नहीं ईश्वर में मानते हैं प्रकृति स्वतः ही जगत रूप में परिणत हो जाती है ऐसा उनका कहना है उनके मत खंडन करने के लिए कहा चेतन बोल दिया चेतन है तम निराशा एक नंबर कहा न तो जीव जीवादेश चेतन व्यावृत्ति ये चेतन शब्द ईश्वर के विशेषण जो लगाया जीवादि की व्यावृत्ति के लिए जीव भी चेतन है जीवादि के पृथक करने के लिए चेतन विशेषण ईश्वर को नहीं दिया है वो सांख्य मत का खंडन करने के लिए है वो अचेतन ही जगत का आकार से प्रगत होना मानते हैं प्रधान को किंतु नहीं चेतन है वो ये कहा <clears throat> चेतन बोल दिया माने चेतन अनधिष्ट अनधिष्ठित अचेतन से स्वतः प्रवृत्ति आदर्शनाथ अब ये सांख्य लोग तार्किक हैं तर्क से सिद्ध करना उन्होंने कोई भी कार्य सिद्ध करना है तर्क से करना है किंतु तर्क से सिद्ध करने के लिए दृष्टांत चाहिए दृष्टांत के बिना नहीं होगा तर्क से सिद्ध करने के लिए किंतु हमारे यहां तो दृष्टांत मिल जाता है प्रकृति जगत रूप से परिणत हो जाती है जगत प्रकृति का परिणाम है हम भी मानते हैं परिणामी उपादान प्रकृति है और विवर्त उपादान परमात्मा है हमारा ये कहना है वो कहते हैं नहीं वो परिणामी उपादान एक ही विवर्तक मानते हैं वो एक ही है तार्किक है लोग उनके पास पीछे कोई तर्क को पुष्टि करने वाला श्रुति तो है नहीं तो तार्किक के लिए दृष्टांत चाहिए ऐसा दृष्टांत कहीं मिलता नहीं चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ में प्रवृत्ति हुई हो कहीं देखा ही नहीं पड़ता लोग में गाड़ी चलती है ड्राइवर बैठा होगा तभी गाड़ी चलेगी चेतन में आश्रित है गाड़ी तब चलेगी चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ में कार्य होना संभव नहीं अब ये सांख्यों का कैसे मान्यता है ये कह रहे हैं यहां चेतन अनधिष्ठित चेतन में आश्रित हुए बिना अचेतन से स्वतः प्रवृत्ति अर्धसात अचेतन में स्वतः प्रवृत्ति नहीं देखा है जब तर्क से सिद्ध करना है तो दृष्टांत देना पड़ेगा किंतु चेतन में आश्रित हुए बिना अचेतन में स्वतः प्रवृत्ति लोक में नहीं देखा है गाड़ी आदि चलती है चेतन वहां बैठा है तब चलती है चेतन में आश्रित होने पर बिना अकेले चेतन नहीं चलता कहते आप तो राकेट के बारे में बोलते हैं वहां भी मशीन दबाने वाला चेतन होगा तभी चल रहा होगा रात अचेतन में प्रवृत्ति नहीं होती है चेतन चेतन में आश्रित हुए बिना कहेंगे गंगा जी चल रही है अचेतन है नहीं उसको धक्का देने वाला चेतन बैठा है ऊपर धक्का दे रहा सर्वत्र नियम है चेतन में आश्रित हुए बिना अचेतन में कोई प्रवृत्ति हो नहीं सकती है चेतन अनधिष्ठत अचेतन से स्वतः प्रवृत्ति अदर्शनात् अवश्यम सर्वज्ञ चेतन अधिष्ठाता अंगीकारी तो इसलिए अवश्य ही सर्वज्ञ जो चेतन है जगत निर्माण करने वाला उसको स्वीकार करना पड़ेगा सांख्यों को ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा कि हाँ प्रधान स्वतः परिणत हो जाती है कैसे कहां देखा ऐसा स्वतः परिणत होने वाला कहेंगे बछड़े की वृद्धि के लिए उनके दृष्टांत एक ही है वहां बछड़ा बड़ा होने के लिए गाय का स्तन जड़ है उनका कहना यह है गाय का जो स्तन होता है जड़ होता है उसे प्रवृत्ति हो जाती है बछड़े को देखने पर उसमें दूध भर जाता है तो अचेतन में प्रवृत्ति स्वतः होती है ऐसा कहते हैं वहां भी स्वतः नहीं वहां चेतन है गाय में चेतन है कि नहीं गाय में चेतन है तभी गाय का स्तन वृद्धि को प्राप्त होगा मरी हुई गाय होगी तो नहीं होता वहां स्तन की वृद्धि उनके गलत दृष्टांत है सांख्यकारी के आदि में हमें उल्लू बना देते हैं वो चेतन के प्रवृत्ति के लिए जड़ में प्रवृत्ति हो जाती है चेतन की वृत्ति के लिए बस अचेतन और गाय अचेतन ऐसा मानते हो गाय के स्तन की प्रवृत्ति हो जाती है स्तन भर जाता है बच्चों देख करके ऐसा बोलते किंतु तो वहां भी चेतन है चेतन में आश्रित हुए बिना अचेतन में प्रवृत्ति नहीं देखी गई है लोग नहीं, देखा गया तो प्रवृत्ति है चेतन के आश्रित होकर एक कहा इन्होंने अच्छा <clears throat> तृतीय आह तृतीय आत्मा के बारे में है ये तो ईश्वर के बारे में तृतीय तृतीय कहते हैं यत यथो बाचो निवर्तन थे अपराध मनसा सा कहा और अन्यत्र कहा है ये ये तो बात निवर्तन थे ये है आपके तैतरीय है तीन रेति वृद्धार्मिक है ऐसा बताया एक रूप भेद है ना भेद इतिहास यहाँ सिद्धांत कहते थे भाई बात यह है एक ही आत्मा है उसके भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न कह दिया कहीं जीवात्मा बोल दिया उपाधि भिन्न भिन्न उपाधि के कारण कहीं ईश्वरात्मा बोल दिया कहीं केवल आत्मा बोल दिया निर्विशेष रूप से आत्मा बोल दिया और विशेषण उपाधि अंतकरण आने पर जीवात्मा बोल दिया माया उपाधि आने पर इसको ईश्वर बोल दिया एक ही आत्मा है हाँ, उपाधि के कारण से तीन प्रतीत हो रहे हैं एक मुख्य है दो औपाधि का है किंतु आत्मा एक ही है ऐसा सिद्धांत बोले तो पूर्वादि खनन करता है एक रूप ना भेद एक ही आत्मा है उसके स्वरूप भेद से भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई पड़ता है इसलिए भेद माना गया वास्तव में एक ही आत्मा है ऐसे शंका सिद्धांत की ओर से करे तो एवं पूर्वादि बोलता है एवं एते त्रयो आत्मा अन्य विलक्षण एक ही आत्मा होता तो विलक्षण नहीं होना चाहिए विलक्षण है तीनों आत्मा विलक्षण है एक तो निर्विशेष कुछ भी नहीं वहां कोई विशेषता नहीं है और एक जगत की सृष्टि स्थिति लय करने वाला शक्ति वाला है और एक अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाला है तो एक आत्मा कहां से हो सकता भिन्न भिन्न आई है एक पूर्वादि ने कहा अच्छा अन्य विलक्षण तत्र कथम एक एव आत्मा अद्वितीय अंशचारी ज्ञापन शक्य थे पूर्वादि की भाष्य पूरा हो गया उस स्थिति में जब तीन आत्मा अलग अलग हैं तो एक ही आत्मा है असंसारी कैसे सिद्ध हुआ कैसे जाना जा सकता है ये कहा तो उत्तर देंगे आप सिद्धांत कहते हैं देखो भाई पूर्वादि बोलता अन्योन्य का अर्थ कर देते हैं अन्योन्य विलक्षणा का अर्थ अन्योन्य विरुद्ध धर्मत्व एक दूसरे के धर्म में एक दूसरे का धर्म नहीं मिलता एक दूसरे के धर्म के साथ एक दूसरे धर्म नहीं एक तो निर्धर्म का कोई धर्म ही नहीं जिसमें और एक में सर्वज्ञत्वादि धर्म है एक में अल्पज्ञत्वादि धर्म मिलता ही नहीं कैसे विरोधी धर्म है दहन ही अग्नि और हिम के तरह अग्नि गर्म होती है और यम ठंडा होता है एक दूसरे को मारक होते हैं अग्नि ज्यादा हो तो पानी को मार दे और पानी ज्यादा हो तो अग्नि को मार दे ऐसे एक दूसरे के मारक होते हैं कहीं पानी कम हो आग ज्यादा जल रही हो पानी खत्म सूख गया पानी पानी को मार देता है और कहीं पानी ज्यादा हो आग कम हो आग बुझ जाता है दोनों एक दूसरे मारक बनते हैं ऐसे भूत है ये सब तो अन्योन्य विरोध धर्मत्वाद बोला था उसका अर्थ करते हैं दहन तो ही नपत भिन्ना इत्यर्थ माने अग्नि और हिम बर्फ के समान विरोधी है ये आत्मा तो एक कैसे हो सकता पूर्वादी की शंका है तीनों आत्मा बिल्कुल अलग अलग धर्म वाले हैं विरोधी धर्म वाले हैं एक तो धर्म ही नहीं है निर्धर्मक है भूमिका बाबा है और दूसरे एक माने इतने बड़ी उपाधि लेके बैठा हुआ है जगत की सृष्टि कर सकता है और एक अपने लिए कुछ नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में है अल्पज्ञ अल्प उपाधि वाला है कहां से एक होता है ऐसा कहा अब आगे सिद्धांति उत्तर देंगे तत्र जीव से यद कर्तृत्व भोक्तृत्वादिना वैलक्षण उत्तम तद असिद्धम तस्य मानांतरा विषयत्व तत्धर्मवत्तया प्रमात्मा शक्यवाद अतो न भेद इतने प्राय न परिहरती सिद्धांत सिद्धांत कहते हैं भाई कोई भेद नहीं तीनों आत्मा में कोई भेद नहीं ऐसे तीनों में से पहले जीव की सिद्धि करो आप आपने जीव बोल तो दिया जीव जीव की सिद्धि नहीं कर सकोगे आप ये कहना चाहते थे तत्र जीवस्य यद कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि ना तुमने तु, तो कर्तृत्व आदि को हेतु बना दिया उसी को लेकर के जीवत्व की सिद्धि की है जो कर्ता भोक्ता होता है वो जीव होता है ये लिंग है हेतु यही है कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म जिसमें है वो जीव है ऐसा की किया है तुमने कर्ता जीव से यह कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वहां विलक्षण होता है जीव विलक्षण है अन्य से क्यों यह कर्ता होता है और दो आत्मा कर्ता होता नहीं है ये विलक्षण धर्म दिखाया वैभुत्व असिद्धम वैलक्षण है असिद्ध है विलक्षणता सिद्ध नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि में वैलक्षण में रूपतम तद असिद्धम यह सिद्ध है सिद्धांत करें क्यों तस् मानांतरा विषय जो आत्मा है ना अन्य प्रमाण का विषय नहीं अनुमान का विषय नहीं है आत्मा स्वयं प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित होने वाला अन्य प्रमाण के द्वारा प्रकाशित करने में जो सभी प्रमाणों का प्रकाश करने वाला तत्व है आत्मा सिद्धांत ये बोलना चाहते हैं स्वयं प्रकाश मानते हैं सिद्ध होता है इसलिए अन्य प्रमाण के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा अनुमान तुमने अनुमान के द्वारा सिद्ध करना चाह है कर्तृत्व भोक्तृत्व अन्य के द्वारा अनुमान प्रमाण से उसको प्रकाशित करना चाहते हो आत्मा को वो स्वयं प्रकाश है ये मानना चाहते हैं अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता क्यों प्रमाण देने वाला व्यक्ति प्रमाण से पहले सिद्ध होगा मैं अमुक प्रमाण के द्वारा अमुक वस्तु की सिद्धि करूंगा ऐसे कहने वाला व्यक्ति प्रमाण देने से पहले होगा प्रमाण देने वाला व्यक्ति उसकी सिद्धि कहां प्रमाण से होनी है वो स्वतः प्रमाण है आप कोई भी विषय के लिए प्रमाण देंगे तो आप पहले होंगे तभी तो प्रमाण देंगे अनुमान प्रमाण से जीवात्मा की सिद्धि कैसे करोगे वो तो स्वतः प्रमाण है सिद्ध करना चाह रहे हैं जीवक तो सिद्ध नहीं कर सकते अनुमान के द्वारा कर्तृत्व भक्ति के द्वारा ये सिद्धांत बोल रहे हैं इसमें लंबा खिंचाव होगा अभी तस्य माने जीवस्य आत्मा तस्य माने जो जीव तुमने जिसको जीव कहा उस आत्मा का मानांतरा विषय तो अन्य प्रमाण का विषय ही नहीं है वो स्वतः प्रमाण है वो स्वयं प्रकाश है स्थानांतर हाँ, मैंने स्वप्रकाशत्व में प्रत्या स्वप्रकाश स्वयं प्रकाशित होता है वो अन्य से प्रकाशित होने वाला नहीं तुम अनुमान दोगे तब सिद्ध नहीं वो अनुमान देने से पहले सिद्ध है वो अनुमान देने वाला जो होता है अनुमान देने से पहले होगा तभी तो देगा पहले सिद्ध है किसी प्रमाण के द्वारा प्रकाश नहीं स्वतः प्रकाश है यही कहना चाहेंगे सिद्धांत स्वयं प्रकाश है अन्य के द्वारा प्रकाशित होने वाला नहीं है प्रमाणांतर के विषय में मानांतर विषय तद धर्मतया परमात्मा हो कर्तृत्व भोक्तृत्व को धर्म बना करके अनुमान नहीं कर सकते जीवात्मा जी अनुमान के द्वारा सिद्ध होने वाला नहीं पहले सिद्ध है ये कहना चाहते हैं अतो न भेद इसलिए भेद नहीं है तुमने भेद करने के लिए अनुमान दिया है अनुमान से पहले सिद्ध है वो आत्मा इसलिए भेद सिद्ध नहीं कर सकते सिद्धांत का परिहर्ति सिद्धांत का सिद्धांत पूछते हैं पूर्वादि तथा जीव एवं तावत कथम क्या है ये बताओ तीन आत्मा विलक्षण आत्मा तो बोल दिया तुमने उस स्थिति में पहले जीव के बारे में लक्षण बताओ कैसे जाना जाता है जीव अपने मन में तो है स्वयं प्रकाश है हम तो जानते हैं स्वयं प्रकाश ही तो होता अन्य प्रमाण का विषय नहीं क्यों तुमसे हम पूछ रहे हैं जो भिन्न मानने वालों से जीव एवं तावत कथम क्या है जीव कैसे जाना जाता है बताओ तीन आत्मा तो बता दिया तुमने तो पूर्वादि बोलता है ननु एवं क्या है इस प्रकार जाना जाता है जीव कैसे श्रोता मनता दृष्टा आदेष्टा आगोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता यदि ऐसा सुनता है मनन करता है देखता है आदेश देता है शब्दात्मक आदेश देता है और वो आगोष्टा ध्वन्यात्मक सुनता शब्द करता है सुनता है जानता है विशेष जानता है इस रूप से इसी माने ईद का ज्ञान इसके माध्यम से उसको जाना जाता है ये कहना चाहता है ठीक है मैं <clears throat> तस् ज्ञेयत्वा भावे कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टतया भी ऐसा ज्ञान तुम असत्य जब ज्ञ नहीं बनेगा आपका स्वयं प्रकाश है किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनता प्रमाण का विषय नहीं बनता जब ज्ञत्व नहीं रहेगा आत्मा में तो कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टतया भी सज्ञान तुम अशक्य फिर कर्तृत्वादी धर्म के द्वारा भी उसको जानना संभव नहीं है सिद्धांत बोलते हैं सिद्धांत का है अभिज्ञात अभिप्राय प्रश्न प्रकार मत्वा संगत है पूर्वादि सिद्धांति समझ गए हैं आत्मा स्वयं प्रकाश करके पूछ रहे हैं उसने पूर्वादि ने सोचा हमारे कहने का अभिप्राय समझे नहीं है सिद्धांत ऐसा करके बताता है देखो ऐसा जाना जाता है कैसा श्रोता मनता दृष्टा आदेशता आगोष्ठा विज्ञाता प्रज्ञाता इत्यादि रूप से जाना जाता है जीवात्मा ये पूर्वादी यही बोलना चाहता है आदेशता का अर्थ है वर्णात्मक शब्द बोलता मान पद्य बोलने वाला पद बोलने वाला वर्णात्मक शब्द बोलने वाला बोलता है तो आदेशता वाला आदेश देना देने वाला और आगोष्ठा बोले ध्वनियात्मक शब्द बोलता है बुराता है कुछ करता है ध्वनियात्मक शब्द बोलता है ऐसा इत्यादि बता दिया अच्छा सिद्धांत कहते हैं भाई एक आत्मा के लिए खाली ऐसे ही वाक्य नहीं मिलता है श्रोता ममता आदि नहीं और श्रोता अमंता आदि भी तो मिलता है उसको क्या करोगे फिर आत्मा के विषय अश्रोता अमंता भी यही कहना चाहते हैं सिद्धांत सिद्धांत कहते हैं पूर्व वाक्य माने पूर्व अध्याय में ऐसा भी कहा कहते हैं पूर्व वाक्य में इस जो है जहां पर श्रोता ममता आगोष्ठा आदि आता है उसके पूर्व वाक्य में पूर्व वाक्य कहां है तो टिप्पणी बता दिया है ऐतरे आरण्य जो तृतीय आरण्य है उसमें द्वितीय अध्याय के चतुर्थ कंडिका में बात है पूर्व वाक्य स येसो अश्रुतो अमतो अभिज्ञाता इति ऐसा कहा है वह आत्मा के लिए स माने आत्मा ऐसा आत्मा अश्रुत सुनने का विषय नहीं अमत मनन का विषय नहीं अमत होता है अभिज्ञात होता है आत्मा ऐसा कहा है विज्ञात नहीं होता तुम अनुमान से कैसे विज्ञात करना चाहोगे श्रोता मंता आदि करके कहा विज्ञत्व से प्रतिषेधात् आत्मा विज्ञान ने ज्ञान विषयत्व का प्रतिषेध किया है आत्मा को कोई ज्ञान का विषय नहीं होगा आत्मा क्यों आत्मा तो प्रमाण देकर के ज्ञान सिद्ध करने वाला है ज्ञान के द्वारा वस्तु सिद्ध करने वाला व्यक्ति है वो ज्ञान से कैसे सिद्ध करोगे आप प्रमाण देकर के जो वस्तु की सिद्धि के लिए वस्तु की सिद्धि का ज्ञान होगा वो पहले व्यक्ति होगा ये कहना चाहते सिद्धांत पूर्व वाक्य स येषो अश्रुतो अमतो अभिज्ञात विज्ञेत्व प्रतिषेधा पूर्व वाक्य में आत्मा के को का खंडन किया अश्रुता अमता अभिज्ञात इत्यादि कहा है तस्वीन तद विरुद्धम जयत्व इसलिए उस आत्मा में तुमने जो कहा श्रोता अमता आदि बन करके जानता कहा यह विरुद्ध है यह सिद्धांत कहा यही कहना चाहते हैं विरुद्धम इत्या ऐसा सिद्धांत ने कहा तो पूर्वादि बोल सिद्धांति कहते हैं इसी को बोलते हैं विरुद्ध है क्यों सिद्धांति का ननु है ननु विपरीत यह आपने जो कहा है विरोधी बात है ज्ञाते बोल रहे आप अनुमान प्रमाण से श्रोता मंद आदि से जाना जाता है गाना यह सर्वणादि कर्तृत्व है ना विज्ञान ऐसा बोलना सर्वादि के कर्ता रूप से जाना जाता है जो तो सुनाई पड़ रहा है तो सर्वणादि के कर्ता जो होगा आत्मा ऐसा करके जानना और अमतो अभिज्ञात दिया एक तरफ निषेध करना तो अम किसी ज्ञान का विषय नहीं बनता बोलना एक तरफ विज्ञात ज्ञान का विषय करवाना और एक अभिज्ञाता बोलना विरोध होगा ये सिद्धांत ने कहा तथा तो और भी है वृद्धार्थ में ऐसी बातें आती है न मतेर मंदारम मनविथा ऐसा है हाँ। मन मन के वृत्ति को जानने वाले को तुम जान नहीं सकोगे न मतेर मंदारम मनविथा मनन वृत्ति को जो साक्षी है ना हमारे मन में जो जो वृत्तियां बनती है वो वृत्ति बन रही हम देखते जानते हैं क्या वृत्ति बनी है विघाताकार पटाकार मठाकार माने अच्छी बुरी जो भी वृत्ति बनी होगी हमें ज्ञान होता है तो उसको तुम नहीं जान सकोगे उसका मन मन के विषय नहीं बना पाओगे मन को जो देख रहा मन की वृत्ति को देखने वाला को मन से कैसे देखोगे न मन लिखा न विज्ञातेर विज्ञातर लिया जो बुद्धि वृत्ति के साक्षी है तो उसको तुम जान नहीं सकोगे बुद्धि वृत्ति को जो जान रहा है बुद्धि वृत्ति को जानना हमारे बुद्धि को भी जान रहा है उसको नहीं जान सकोगे ऐसा कहा है इत्यादि का निषेध किया है तो कैसे आत्मा जाना जाए ये सिद्धांत ने कहा पूर्व पक्ष बोलता है सत्यम विप्रक्षितम यदि प्रत्यक्षण ज्ञाते सुखादि जैसे सुखादि का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होता तब तो विरोधी होता है श्रुति के साथ अनुमान का हम्म। जो अभिज्ञाता आदि श्रुति के साथ विरोध होता है जैसे सुखादि प्रत्यक्ष होते हैं उसमें विरुद्ध अनुमान नहीं कर सकते वहां श्रुति में बोल दिया ठीक है किंतु प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाएगा ये इसका नहीं प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात नहीं आत्मा अनुमान से ज्ञात होता है ना यदि प्रत्यक्ष का विषय होता तो विरोधी हो जाता अमतादि शब्दों के साथ विरोध होता किंतु प्रत्यक्ष विषय अनुमान का विषय है श्रुति निषेध करती है ठीक है अनुमान से सिद्ध हो जाता है कोई विरोध नहीं ये पूर्वादि बोलता सत्यम विप्रतिषितम यदि प्रत्यक्ष थे सुखाधिपति यदि प्रत्यक्ष रूप से आत्मा जाना जाता सुखादि के समान तब तो विरोध होता है किंतु यहां पर प्रत्यक्ष से नहीं जानना है प्रत्यक्ष ज्ञानम तो अनिवार्य थे न मतेर मंत्रारम के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान का निषेध किया है वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है कहा है अन्य ज्ञान का तो विषय हो ही जाएगा अनुमान अनुमिति का ज्ञान का विषय हो जाएगा अनुमान से सिद्ध हो जाएगा वो जो वृद्धारंभ न मतेर मंत्रारंभ अन्यथा आदि कहा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय निषेध किया है आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं बनता ये कहा है तो अन्य प्रमाण का ज्ञान का विषय हो जाएगा अन्य प्रमाण जन ज्ञान का विषय हो जाएगा अनुमान जन्य है ये पूर्वादि का कहना है प्रत्यक्ष ज्ञान हम चरिवार्य रहते न मत मंतारण इत्यादि ना ज्ञाते तो श्रवणादि लिंग और जाना जाता है श्रवण हो रहा है शब्द सुनाई दे रहा है तो आत्मा है सुनने वाला है यही तो जाना है देख रहा है तो देखने वाला है ये जाना जाता है अनुमान से युद्ध होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता तो विरोध होता प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है ही नहीं इसलिए विरोध नहीं अनुमान से सिद्ध होता है आत्मा ये कहा श्रवणाभिलिंगन तत्र कुतो विपरीत फिर इन श्रुति को लेकर का साथ श्रुति का विरोध नहीं श्रुति तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए निषेध करती है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं होता आत्मा बोलती है श्रुति ये न मतेर और मनिता आदि प्रत्यक्ष के लिए कहा है अनुमान के लिए नहीं तो अनुमान के साथ कोई विरोधी नहीं है ऐसा पूर्वादि ने कहा आगे सिद्धांत दिखाएंगे टीका से देखिए यह श्रवणादि कर्तृत्व ज्ञाते स एव अमतो अभिज्ञाता अभिज्ञात से तेतत प्रतिषिद्धम विप्रतिषिद्धम अन्वय पूर्व सिद्धांत ने शंका उठाई थी ये कैसे आपने विरोध माना जो जानना भी बोलना और अभिज्ञात आदि भी बोलना सर्वादि के कर्ता रूप से जानना जाता है बोलना और अभिज्ञात होता है अमत होता है ये पूर्व वाक्य में ऐसा आया वो कैसे माना जाए इस सिद्धांत ने कहा कि यह सर्वणादि कर्तृत्व ने ज्ञाते श्रवणादि के कर्ता रूप से ज्ञाते बोलना आत्मा को ज्ञान का विषय बनाना और सब वही आत्मा अमतो अविज्ञात से बोला फिर ज्ञान का विषय नहीं होता कहना ये विरोध नहीं होगा क्या सिद्धांत ने कहा यही इत विप्रसिद्धम सिद्धम ये विपरीत विरोध है सिद्धांत ने कहा तो पूर्वादि कहता है श्रुत्यंतर विप्रसिद्धम सिद्धम सिद्धांति कहते हैं अन्य श्रुति के साथ भी विरोध है न मतेर मंतारम मनविधा हाँ। ऐसा है द विज्ञातिर विज्ञातारम था इत्यादि कहा है वो श्रुति के साथ विरोध है उनके जान नहीं सकोगे बोला है और तुम ज्ञान का विषय अनुमित ज्ञान का विषय बनाना चाहते हो विरोध होगा ये सिद्धांत ने कहा तो आगे सिद्धांत की टीका मतेर मनो मनोवृत्तेर या मति शब्द का अर्थ मतलब मन की वृत्ति मनोवृत्ति का साक्षी आत्मा है मंतारम मन साक्षर मनोवृत्ति के साक्षी को नहीं जान सकोगे ये अर्थ है न मतेर मंतारम मन्यता का अर्थ ये कहा आदिपदेना न आदिपद से क्या लेना अमतो मनता अभिज्ञातो विज्ञाता ऐसा भी कहा है वो स्वयं किसी का ज्ञान का विषय नहीं बनता है सबको जानने वाला होता है अभिज्ञात है वो किसी के विषय नहीं बनेगा सबको जानने वाला है ऐसा भी कहा है आत्मा के बारे में अभिज्ञातो विज्ञाता इत्यादि संग्रह किया पूर्वादि बोलता है कि महाराज श्रुतियों प्रामाण्य विशेषाद विप्रतिषेध अनुपत्ते है प्रत्यक्षेण अविज्ञेयत्व निज्ञान विज्ञेयत्व से उच्चते ताभ्याम संगत पूर्वाधि पूर्वाधि का हो जाएगा दोनों तो श्रुति ही है अविज्ञात की श्रुति है विज्ञात की श्रुति है अभिज्ञात और विज्ञाता बोला हुआ है अभिज्ञात की श्रुति है और विज्ञात की श्रुति है दोनों श्रुति वाक्य है तो दोनों में क्या होगा श्रुति और प्रामाण्य विषय दोनों को प्रामाण्य करना ही पड़ेगा एक ही वाक्य बोला अभिज्ञात और विज्ञाता विज्ञात भी है ऐसा कहा श्रुति और प्रामाण्य अविशेषा प्रामाण्य समान होने से विप्रतिषेध अनुपत्ति विरोध होना संभव नहीं जब श्रुति में कहा दोनों बातें तो विरोध नहीं मान सकते उसको विप्रतिषेध अनुपत्ति प्रत्यक्षण अभिज्ञ तो उस श्रुति का अर्थ कारण रहेगा अभिज्ञा का अर्थ प्रत्यक्षण अभिज्ञ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं होता ये अर्थ है उसका आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है ये होगा और लिंगे न विज्ञत्व मैंने मतलब अनुमान के द्वारा जाना जाता है यह अर्थ आएगा उसका अभिज्ञात भी बोला है विज्ञात भी बोला है तो प्रत्यक्ष के द्वारा अभिज्ञात है और अनुमान के द्वारा विज्ञात है ऐसा अर्थ है उसका ये पूर्ववादी ने कहा क्यों दोनों श्रुति है उसको अप्रामाण्य घोषित एक को अप्रामाणिक करता तो ठीक नहीं होगा ना ये पूर्ववादी कहना चाहता है तो काभ्याम वो दोनों श्रुति के द्वारा यही होता है पूर्वादि शंकर का सत्यम इत्यादि कहा था पूर्वादी ने टिप्पणी की तीन चार तीन में कहा सो अश्रुता अश्रुत इत्यादि अश्रुतत्वादि बोधिका श्रुति सो अश्रुतो अमता जो कहा था वो अश्रुतत्वादि सुनाई नहीं पड़ता ऐसे श्रुति है और अमतो ममता इत्यादि से मंत्रित्वादि बोधि को मनन करता है वहां अश्रुत बोला और यहां मनन करता बोल दिया यही दोनों श्रुति का विरोध दोनों श्रुति है इसको विरोध करना ठीक नहीं है विप्रचेद करना ठीक नहीं इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का निषेध करना है अनुमान प्रमाण का विषय बनाना है यह अर्थ आया चार में कहते हैं विरोध है अन्यतर बाधा पत्ते रहा विरोध मानने पर एक को तो बात करना पड़ेगा और श्रुति को श्रोता बनाना है तो एक को बात करना होगा किंतु श्रुति है विपरीत अनुपत्य इसलिए कहा विपरीत नहीं दोनों श्रुति है बात करना ठीक नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता है अनुमान का विषय बनता है ऐसा अर्थ करने से संगति लग जाएगी जहां पर आत्मा को ज्ञान का विषय बनाना हो अनुमान प्रमाण का विषय बन जाता है जहां जहां ज्ञान का विषय नहीं बनाने के बाद क्या आएगा प्रत्येक प्रमाण का विषय नहीं है ऐसा कमाने से काम चलेगा यही करना पड़ेगा दोनों श्रुति है सगति लगानी है पूर्ववादी ने ऐसा कहा आगे सिद्धांत ही कुछ बोलना चाहते हैं एक नंबर श्रवणाद अच्छा अनुमान ऐसा होगा कहा श्रवणादि क्रिया सकर्तिका हाँ, श्रवणादि क्रिया कर्ता के सहित होंगे खाली क्रिया नहीं होगी कर्ता सहिता सकर्तिका कर्ता के सहित है वो बिना कर्ता के श्रवण नहीं हो सकता है सुनने वाला कोई ना कोई होगा श्रवणादि एक क्रिया है श्रवण क्रिया है तो कर्ता के बिना कौन सुनेगा सकर्तिक है वो अनुमान यही श्रवणादि क्रिया यह पक्ष सकर्तिकत्व साध्य होगा कर्ता के सहित है वो क्रिया अकेले क्रिया नहीं है श्रवणादि कर्ता होगा तभी तो श्रवण करेगा और क्रियात्वा क्रियात्व तो उसमें रहेगा ही श्रवणादि क्रिया में क्रियात्वाद इसे अनुमान में कर रहे छेदी क्रियावत इत्यादि जैसे छेदन हो रहा हो कोई काष्ट कट रहा हो वहां कर्ता के बिना कुलाड़ा ऐसे चलेगा नहीं लकड़ी कटेगी नहीं वह काटने वाला व्यक्ति होगा तो कर्ता के सहित होता है क्रिया हो रही वहां लकड़ी में छेदी क्रिया दृष्टांत हो जाएगा जैसे छेदन क्रिया होती है कर्ता के सहित होती है जहां जहां क्रियात्व तो होगा वहां वहां सकर्तृकत्व तो होगा जैसे छिद क्रिया आदि में देखा है छेदन क्रिया देखा है ये अनुमान होगा ये कहा श्रवाद लिंगे आयत इत्यादि में कहा है अच्छा श्रवादि क्रिया सकर्तृका क्रियात्वादि अनुमान है श्रवणादे पक्ष विधया की विधया की अनुमानांगत्व मात्र लिंगत्व व्यवहार औपचारिक कहते हैं श्रवणादि क्रिया में तो पक्ष कोटि में श्रवण को रखा हुआ है फिर लिंग कैसे बने लिंग हेतु होता है यह अनुमान जो दिया है सर्वाधिक किया सकर्तिका में सर्वात्व श्रवणत्वाद ऐसा तो बोला नहीं हेतु मैंने रखा श्रवण को तो हेतु लिंग कैसे बनेगा ये प्रश्न उठा तो इसके उत्तर में देते हैं श्रवणादि पक्ष विधया पक्ष में है यद्यपि सर्वादि को पक्ष में है यहाँ हेतु में नहीं है मत क्रियात्व हेतु है अनुमान अनुमान अंगत्व मात्र लिंगत्व अनुमान का अंगत्व है ना अनुमान का अंग है वो भी है पक्ष साध्य हेतु मिलकर के अनुमान होते हैं तो अनुमान का अंग होने से अंग पक्ष अंग का व्यवहार हो गया लिंग का व्यवहार हो गया या औपचारिक है यद्यपि हम पक्ष में आए श्रवण शब्द सर्वाधिक क्रिया करके पक्ष बनाया हुआ फिर भी अनुमान का अंग होने से लिंग बांध दिया माना है लिंग हेतु होता है मुख्य हेतु तो है नहीं ये पक्ष में रखा हुआ है फिर भी अनुमान के अंग होने से गौण प्रयोग कर दिया कहा आगे ठीक है सिद्धांत ही अब इसका उत्तर देना चाहते हैं तुमने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा विषय नहीं होता किंतु अनुमान से विषय होता है ये कहना चाहते हो यही है ना किंतु देखो अनुमान से भी आत्मा का विषय नहीं होगा तो श्रवण का अनुमान करोगे तो आपके श्रवण में ही वृत्ति रहेगी आत्मा की वृत्ति बनाएगी नहीं बोलना चाहते एक काल में दो दो ज्ञान होगा नहीं अनुविधि ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान होगा ही नहीं अनुविधि ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानना और प्रत्यक्ष होगा श्रवणादि का श्रवण सुनोगे प्रत्यक्ष करोगे उधर और इधर आत्मा का ज्ञान होना है अनुमान से दो ज्ञान एक काल में हो नहीं सकता जब श्रवण काल में श्रवण में ही आपकी मनोवृत्ति रहेगी आत्मज्ञान होगा ही नहीं अनुविधि काल में प्रत्यक्ष नहीं होगा आप एक ही काल में दो करना चाहते हो माने उधर प्रत्यक्ष होना श्रवण का प्रत्यक्ष हो रहा है श्रवणादि क्रिया के द्वारा यहां पर आत्मा का ज्ञान करना अनुमान से करना चाहते हो नहीं हो सकता यही बोलना चाहते सिद्धांत आत्मनि युगपद ज्ञान को अयोगात आत्मा जब श्रवण करता है तो प्रत्यक्ष रूप में श्रवण कर रहा है वहां अनुमिति ज्ञान अपना अनुमिति ज्ञान नहीं कर पाएगा अनुमिति ज्ञान काल में प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा ऐसा बोलते हैं आत्मा ने युगपद ज्ञान को अयोगात आत्मा में दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता है अनुमिति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वण तो प्रत्यक्ष होना और आत्मा का अनुमिति होना दो ज्ञान एक साथ होगा नहीं ऐसा ये है आत्मा नहीं ज्ञान दो अवगात वैसे नए आयु भी मानते हैं जो आत्म विशेष गुण है एक साथ एक काल में दो गुण नहीं होते हैं आत्मा में रहने वाले जो विशेष गुण होते हैं एक काल में एक ही गुण रहेगा पूर्व गुण के द्वारा उत्तर गुण उत्तर गुण के द्वारा पूर्व गुण नाश हो जाता है ऐसा मानते हैं आत्मनि युगपद ज्ञान दो अयोगात यहां प्रत्यक्ष और अनुमान अनुमिति ज्ञान दो एक साथ होना संभव नहीं है श्रवण का प्रत्यक्ष करना और आत्मा का अनुमिति करना एक साथ होगा आत्मा में जो ज्ञान नहीं होगा विबोध ज्ञान अयोगात श्रवणादि मनन विज्ञान और असंवाद श्रवणादि काल में मनन विज्ञान का अर्थ अनुमिति श्रवणादि काल में या मनन विज्ञान का अर्थ अनुमिति है अनुमिति ज्ञान संभव नहीं है श्रवणादि मनन विज्ञान रूप आत्म विषयकम अन्य विषय का अनुमिति ज्ञान न संबंधि कहा श्रवणादि के द्वारा जब श्रवण क्रिया चल रही है उसका अर्थ है मनन विज्ञान रूपम जो मनन विज्ञान स्वरूप आत्म विषय को चाहे अन्य विषय को वो क्या है अनुविधि ज्ञान संभव नहीं है चाहे आत्मा को विषय करने वाला चाहे अन्य का श्रवण काल में तो प्रत्यक्ष का शब्द प्रत्यक्ष कर रहा है उस काल में आत्म विषय को चाहे अन्य विषय को अनुविधि ज्ञान होना संभव नहीं जो ज्ञान होगा वो तो श्रवण में लग गया उस काल ऐसी स्थिति है ये कहते हैं ननो सिद्धांत बोलते हैं ननो श्रवणादि लिंगे ना अभी कथम क्या है के चलो श्रवण श्रवादि लिंग वाले हेतु के द्वारा आत्मा जाना जाता है अनुमिति प्रमाण से तुमने जो कहा वो भी कैसे जाना जाता है जब इसका निष्कर्ष बताओ श्रवणादि लिंग ना भी कथम ज्ञाए थे आत्मा कैसे जाना जाए यावता यदा श्रृणवती आत्मा श्रोतव्यम शब्दम जब तक आत्मा श्रोतव्य शब्द को सुनता है जितने काल को लेकर के जितने समय में शब्द सुन रहा है आत्मा उस काल में प्रत्यक्ष शब्द का कर रहा है किसका अपना ज्ञान नहीं है उसको वो तो शब्द में गया वो यावता जितने काल के द्वारा यदा जब श्रृणोती आत्मा श्रोतव्य शब्द आत्मा जब श्रोतव्य शब्द को सुनता है जब जितने समय तक सुनता है तदा तब तक तस्य श्रवणादि क्रिया में वर्तमान को तो उस आत्मा तो श्रवणादि क्रिया में रह, रह रहा है वहां श्रवणादि क्रिया में बैठा हुआ है उसी सुनने में लगा हुआ है प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहा हो अपना तो नहीं उस काल में ज्ञान वर्तमान मनन विज्ञान क्रिया न संभवता कहते हैं उस काल में अनुविधि ज्ञान होना संभव नहीं है श्रवण का श्रवण को देख करके अनुविधि करना आत्मा का संभव नहीं है वो तो आत्मा तो श्रवण काल में लगा हुआ है मन अनुविधि ज्ञान होना संभव नहीं आत्मा नहीं पर अपने विषय में हो चाहे अन्य के विषय में हो अनुविधि होना संभव नहीं श्रवण काल में हाँ, प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष कर रहा है उस काल में आत्मा नहीं माने स्वयं में अथवा परत्र माने दूसरे अन्य का भी अनुमिति होना संभव नहीं तथा अन्यत्र मनन क्रिया इसी प्रकार जब मनन क्रिया में लगेगा मन अनुमिति में लगेगा उस काल में प्रत्यक्ष नहीं रहेगा जब मनन करते समय में माने अनुमिति काल में प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाएगा जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान काल में अनुमिति नहीं हो सकता उसी प्रकार अनुमिति ज्ञान काल में प्रत्यक्ष नहीं होगा तथा अन्यत्र आदि मनन क्रियादिशु मनन क्रिया आदि माने अनुमिति ज्ञान आदि में प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा तो दो ज्ञान एक साथ कैसे होगा अनुमिति के द्वारा अनुमान के द्वारा आत्मा को जाना जाता है जाना चाहते हो सर्वाधिक क्रिया को पक्ष हेतु बनाना है वहां वो वो सुन रहा है इसलिए आत्मा है वो सुनना तो हो गया प्रत्यक्ष और आत्मा का ज्ञान कैसे होगा एक काल में दो ज्ञान हो नहीं सकता शब्द तो प्रत्यक्ष होना और अपना अनुमिति होना कैसे होगा ये सिद्धांत सर्वाधिक क्रियाया स्वस्व विशेष और सर्वाय क्रिया भी अपने अपने विषय में होंगे श्रवण काल में दूसरी क्रिया नहीं हो पाएगी शब्द सुन रहा हो तो दूसरे ज्ञान नहीं होगा मैंने रस आदि का ज्ञान नहीं होगा अपने ज्ञान कराएगा शब्द दूसरे का ज्ञान नहीं कराएगा एक कहा नहीं मंतव्य अन्यत्र मंत्र मनन क्रिया समझ जो मंतव्य विषय होगा जिसकी अनुभूति कर रहा होगा मंतव्य विषय होगा उससे भिन्न में मन, मनता का मनन क्रिया भी संभव नहीं मनता उसी में मनन में डूबा हुआ है अन्य अन्य विषय में मनन नहीं कर सकता एक विषय का मनन चल रहा तो दूसरे विषय का मनन नहीं कर सकता उसका मनता ये ये कहा तो फिर दो ज्ञान कैसे होगा एक काल में अनुमान से सिद्ध करने के लिए माने प्रत्यक्ष शब्दादि के प्रत्यक्ष के माध्यम से आत्मा का अनुमिति करना चाहते हो दो ज्ञान कैसे होगा एक काल में शब्द श्रवणादि लिंग है हेतु है श्रवणादि कर रहा है इसलिए आत्मा है करना चाहते हैं श्रवणादि प्रत्यक्ष होना और आत्मा का अनुमिति होना एक काल में दो ज्ञान कैसे होगा माने आत्मा स्वयं प्रकाश है सिद्ध करना सिद्धांत का अभिप्राय यही है स्वयं प्रकाश अन्य किसी प्रमाण से प्रकाशित होने वाला नहीं है ये सिद्ध करना चाहते हैं ठीक आशा देखें श्रवण क्रिया क्रिया एवं सह वर्तमान श्रवण क्रिया आधारत्वाद आत्मनि विषय पर विषय तस्य तो मनन विज्ञान क्रिया न संभव था इत्यर्थ कहते हैं श्रवण क्रिया के साथ ही रह रहा आत्मा उस काल में श्रवण कर रहा है जब तो श्रवण क्रिया में है वो सुन रहा है शब्द प्रत्यक्ष करने में लगा हुआ है सुन सुन जैसे आत्मा का अनुमान से ज्ञान होता है बोल रहे हो किंतु आत्मा तो वहां श्रवण क्रिया में लगा हुआ है सुनने में लगा हुआ है प्रत्यक्ष में है श्रवण क्रिया या एवं सह वर्तमान वो व्यक्ति तो श्रवण क्रिया के साथ बैठा हुआ है उस काल में प्रत्यक्ष कर रहा है श्रवण क्रिया आधारत्व श्रवण क्रिया का आधार बना हुआ है वो आत्मा किसका आधार बना हुआ है श्रवण क्रिया का आधार श्रवण क्रिया उसमें हो रही है आधार होने से आत्मनि विषय पर विषय में अपने विषय में अथवा दूसरे के विषय में तस्य मनन विज्ञान क्रिय न संभवता उस स्थिति में अनुमिति होना संभव नहीं उसको या मनन विज्ञान करता मतलब अनुमिति अनुमिति होना संभव नहीं चाहे अपने विषय में अनुमिति हो चाहे अन्य के विषय में अनुमिति हो क्यों वो उस काल में आत्मा केवल श्रवण क्रिया में लगा हुआ है सुन रहा है शब्द प्रत्यक्ष कर रहा है उस काल में अपना भी अनुमान नहीं कर सकता है दूसरे का भी अनुमान नहीं कर सकता अत्र प्रकरण मनन विज्ञान शब्दाभ्याम अनुमिति उच्चते कहते इस प्रकरण में जो मनन और विज्ञान शब्द आया है इसके द्वारा अनुमिति को कहा जाता है इस प्रकरण में जो मनन विज्ञान मनन विज्ञान बार बार आएगा इसका अर्थ अनुमिति टीकाकार करें अत्र प्रकरण इस प्रकरण में मनन विज्ञान शब्दाभ्याम मनन शब्द विज्ञान शब्द बार बार आ रहा है यहाँ तो वो उसके उसके द्वारा अनुमिति को कहा जाता है आत्मना तद विषय यह शंकावादी ना उत्तर आत्मा को उसी अनुमिति का विषय यहां दिखाना चाह रहा है शंकावादी पूर्व पक्ष आत्मा को अनुमिति के द्वारा सिद्ध करना चाहता है आत्मना तद विषय वैश्यत्व से माने अनुमिति विषयत्व एवं यह शंकावादी न उत्तर शंकावादी ने इस प्रकरण में आत्मा को अनुमिति का विषय बनाया हुआ है इसलिए यहां मनोन विज्ञान शब्द के द्वारा जहां आएगा अनुमिति समझ ये कहा किंतु टिप्पणी कार कहते हैं छह नंबर में अत्र आद्यन अनुमिति द्वितीय न दृष्टान्तार्थ प्रत्यक्षांतरम इतव युक्तम कहते हैं यहां पर आद्य के मनन शब्द के द्वारा तो अनुमति लेना इष्ट है और द्वितीय होता है विज्ञान और द्वितीय से क्या लेना है दृष्टांत के लिए प्रत्यक्षांत अन्य प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकता वो श्रवण प्रत्यक्ष करते समय अपना अनुमिति भी नहीं कर पाएगा अन्य वस्तु का प्रत्यक्ष भी नहीं कर पाएगा ये ये करना अच्छा होगा विज्ञान शब्द द्वारा अन्य प्रत्यक्ष दृष्टांत के लिए ये करना अच्छा होगा तो दोनों होगा तो फिर दो शब्द क्यों बोलना था एक ही अनुमिति के लिए बोलना होता तो दो शब्द क्यों बोलना ठीक ने कहा दोनों का अर्थ अनुमिति है मनन और विज्ञान शब्द का अर्थ किंतु टिप्पणी कार कहते हैं नहीं मनन शब्द का अर्थ तो अनुमिति है और विज्ञान शब्द का अर्थ जिस काल में श्रवण प्रत्यक्ष करता होगा उस काल में अपना अनुमिति भी नहीं कर सकता हो क्योंकि श्रवण क्रिया में लगा हुआ है अपना अनुमिति नहीं कर पाएगा अथवा दूसरे का प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकता रस का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता किस काल में श्रवण प्रत्यक्ष काल में ये मानना है कहा ये कहते हैं अत्र आद्येन अनुमिति मनन विज्ञान में मनन शब्द के द्वारा अनुमति लेना इष्ट होगा इस प्रकरण में और द्वितीय ना द्वितीय है विज्ञान शब्द उसके द्वारा दृष्टांत अर्थ दृष्टांत के लिए प्रत्यक्षांतरम इतने अन्य प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकता जो एक विषय का प्रत्यक्ष करता हो विषयांतर का प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकता उस समय ये वक्त युक्तम ये कहना अच्छा होगा द्वय नहीं अनुमिति उक्त हो दोनों के द्वारा अनुमिति यदि माना जाए मनन और विज्ञान दोनों जैसे टीकाकार बोल रहे हैं ऐसा मानने पर भाष्योक्तम द्विवचनों पर भाष्य में द्विवचन का प्रयोग कर दिया मनन विज्ञान क्रिय ऐसा बोला हुआ है द्विवचन का प्रयोग किया है तो विरुद्ध होगा तो दो वचन लगाए तो दो व्यक्ति अलग अलग हैं तो मनन शब्द के द्वारा अनुमिति और विज्ञान शब्द के द्वारा अन्य प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता यह अर्थ करना होगा ये कहा टिप्पणी का अर्थ बात है आगे टीका है कहते तभी श्रवण मनन और युगपत असंभव है तो श्रवण और मनन मनन माने अनुमिति श्रवण माने प्रत्यक्ष शब्दादि प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का अनुमान करेगा यही तो अर्थ निकाला पूर्वादि ने तो सिद्धांत वाला दोनों ज्ञान एक काल में होगा अनुमिति और प्रत्यक्ष तो तब बोलता है पूर्वादि तभी श्रवण मनन युवपद असंभव है श्रवण और मनन दोनों एक साथ यदि नहीं हो सकता है एक ही व्यक्ति का माने श्रवण हो रहा है उधर और इधर अनुमिति करना संभव नहीं है ऐसा होने पर क्या करना अन्य विषय मनन क्रिया या आत्मा मंतव्य फिर क्या करना अन्य विषय अनुभूति के द्वारा आत्मा को अनुभूति कर देना अनुभूति किसी अन्य है पर्वतों का नाम धोमा उस उस अनुभूति में आत्मा का भी अनुभूति हो जाएगा ऐसा मान लिया जाए अनुमान से सिद्ध करना आत्मा को माने शब्दादि प्रत्यक्ष प्रमाण आने के कारण आत्मा अनुभूति सिद्ध नहीं हो पाए दो ज्ञान एक काल में हो नहीं सकता तब क्या करना अन्य अनुमान करना पर्वतों का अनुमान अनुमान करना अन्य अनुमति हो रही बन्नी की अनुमति हो रही उस अनुमति का विषय आत्मा भी हो जाएगा ऐसा करो ये पूर्वाधि शंका करता है तरी श्रवण मनन और युगपद असंभव है श्रवण मनन दोनों एक साथ न होने पर अन्य विषय मनन क्रिया या अन्य विषय अनुमिति क्रिया के द्वारा बन्नी आदि को विषय बनाने वाला अनुमिति हो रही है उस क्रिया के द्वारा आत्मा मंतव्य आत्मा का भी अनुमिति करो हो जाएगा इति आशंका ऐसा शंका करके सिद्धांत बोलते हैं विजातीय क्रियावत सजातीय क्रिया द्वयमती उपत न समझ पूर्व में विजातीय क्रिया थी दो प्रकार के ज्ञान माने अनुविधि ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान विजातीय थे जैसे एक काल हो नहीं पाए उसी प्रकार सजातीय भी एक काल में दो ज्ञान नहीं होगा उसका भी अनुमिति होना इसका भी अनुमित दो का दो का अनुमिति एक साथ नहीं होगा हाँ, सजातीय ज्ञान भी दो नहीं होता एक काल में जो नैयायिक ने तो स्वयं बोला है युगपत अनुपत्ति मनुष्य लिंगम एक काल में ज्ञान नहीं होता है अनेक ज्ञान नहीं होता इसलिए तो मन है एक ही विषय में मन का विषय बनता है तो एक ही विषय का ज्ञान होता है एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होता नैयायिक स्वयं खंडन करते इस बात को तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि श्रवण मन एक साथ दोनों नहीं हो सकता है श्रवण और मनन माने अनुमिति प्रत्यक्ष और अनुमिति नहीं हो सकता हो तो अन्य विषय मनन क्रिया या अन्य विषय में साथ की टिप्पणी कहा वन्यादि विषय का अनुमति भी है बन्य को विषय करने वाला जो अनुमान होगा पर्वतों का अनुमान धुमा तो धूम को देख करके अग्नि की अनुमति होती है वो, वो अनुमति ज्ञान का विषय आत्मा भी हो जाए तो अनुमान का विषय हो जाएगा आत्मा अनुमति ज्ञान का विषय हो जाएगा ये कहना चाहता है अनुमान का विषय बनाना चाहता है वो तो कहा सिद्धांत ने कहा विजातीय क्रिया जैसे विजातीय ज्ञान दो प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमिति एक साथ नहीं हो सकता है इसी प्रकार सजातीय क्रिया द्वयम अपनी योगपत न समझती सजातीय ज्ञान भी नहीं अनुमिति भी दो दो ज्ञान नहीं होगा एक काल में एक ही अनुमिति होगी एक काल में एक काल तथा इत्यादि कहा <clears throat> तथा अन्यत्रा भी मनन क्रियादिशु मननादि क्रियासु इत्यादि कहा ठीक है कहते हैं मनादि क्रियांतर में न संभव है हाँ, यही क्या होता है माने अनुमिति काल में भी दूसरे अनुमिति अन्य अनुमिति नहीं हो सकती एक की अनुमिति हो रही तो दूसरी की अनुमिति नहीं हो सकती है पूर्वादि ने चालाकी की थी कि बन्नी की अनुमिति काल में आत्मा की अनुमिति हो जाएगी तब तो अनुमान का विषय होगा हम तो यही कह रहे हैं आत्मा अनुमान का विषय है सिद्धांत का पूर्वादि कहता है नो मननादि क्रिया ही लिंगम आत्मा को जानने के लिए मननादि क्रिया ही हेतु है अनुमिति ज्ञान ही ज्ञान अनुमान से ही सिद्ध होता है आत्मा ये सर्वणादि क्रिया हो रही है तो सर्वणादि का कर्ता कोई है श्रवण करने वाला कोई है जो है वो आत्मा है यही है कारण और कुछ नहीं है ननो मननादि क्रिया ही लिंगम मनादि क्रिया लिंग है हेतु है मनादि क्रिया मैंने ज्ञान अनुमित ज्ञान यही कारण है यही लिंग है न तो लिंगम करणम लिंग को करण नहीं माना है व्याप्ति ज्ञान को करण माना है नहीं आयोग ने धूम को करण नहीं माना है माने असाधारण कारण कर्म अनुमित ज्ञान के लिए कारण व्यक्ति ज्ञान को माना है प्राचीन लिंग ज्ञान को मानते थे और नवीनों ने कहा नहीं लिंग ज्ञान करना है व्याप्ति ज्ञान करना है नियम करना होता है लिंग ज्ञान क्योंकि ज्ञायमान लिंगम अनुमितिकरणम ये प्राचीनों का कहना था वर्तमान लिंग होना चाहिए वर्तमान में पर्वत में धूम होगा तो वर्तमान में अग्नि की अनुमति होती है अगर वर्तमान में धूम नहीं होगा कभी धूम रहा होगा ऐसे धूम के द्वारा अग्नि की अनुमति नहीं तो पर्वतों का अनुमान नहीं कर सकते हैं ज्ञानमान लिंग होना चाहिए वर्तमान होना चाहिए प्राचीनों का कहना है किंतु नहीं आई मैंने कहा नहीं माने धूम के चिन्ह देख करके यज्ञशाला आदि में धूम के काला काला चिन्ह दिखाई पड़ता है तो यहां पर अनुमान किया जाता है पूर्व अग्नि का अनुमान किया जाता है यम यज्ञशाला बन्यवती आशीत अतीत धूमत्व ऐसा अनुमान होता है भूत भविष्य अथवा एक ही साल अभी बना ऊपर में धुआंधानी देख लिया हाँ यम बनीमती भविष्य यह एक ही साल अग्नि वाली होगी भावी धुआं अनुमान ज्ञान मान लेंगे नहीं है फिर भी अनुमति होती है कहते हैं लिंग ज्ञान को कर्म मानते हैं नैया ये नब्बे लोग तो ये कहना चाहते हैं ननो मननादि क्रिया ही लिंगम पूर्वादि कहा मननादि क्रिया ही लिंग है न तो लिंगम करणम लिंग करण नहीं है हाँ, हेतु को कर्म नहीं माना अनुमिति का कर्म नहीं माना है अतीत लिंगे ना भी अनुमिति दर्शनार्थ अतीत हेतु अतीत धूम के द्वारा पूर्व में धूम देखा काला काला देखा इसके द्वारा अग्नि का अनुमान हो जाता है ये दिशाला है अभी वर्तमान में धूम नहीं है अतीत धूम के द्वारा भी होता है अतीत लिंगे ना भी अनुमित दर्शनार्थ कहा अतीत है कि अनेक कारण से वर्तमान अपेक्षितम सूचित है इसके द्वारा क्या है कारण वर्तमान होना चाहिए वर्तमान तो अपेक्षितम यही अपेक्षित होता है इसका खंडन हुआ है अतीत ध्वनाती किंतु लिंग ज्ञानम करण कहते हैं लिंग करण नहीं है लिंग ज्ञान करण है हेतु का ज्ञान करण है हेतु करण नहीं है अनुमति में हेतु का ज्ञान करण होता है न तो तस्या भी अनुमति है सत्य नियम लिंग के ज्ञान तो कभी भी कभी लिंग रहा उसका ज्ञान हो गया हाँ, लिंग होना कोई नियम नहीं रहा लिंग ज्ञान जो है अनुमति काल में होना लिंग को रहना कोई नियम नहीं है न तो तस्या की अनुमति काल है ना उस लिंग को रहना कोई नियम नहीं है लिंग न होने पर भी लिंग का ज्ञान होने से अनुमति हो जाएगी ये पूर्वादि बोलता है दो नंबर टिप्पणी कहा सूचित विरुद्धम भक्ति नच इत्यादि ना तो लिंग वर्तमान लिंग होना जरूरी नहीं अनुमति काल में होना नियम नहीं पूर्वक्षण सत्व मात्र करण तो होते पूर्वक्षण वृत्तित्व करना असाधारण कारण कारणों जो न्यायिकों ने कहा है उसमें है ना व्यापारवत असाधारण वृत्ति कहा पूर्व क्षण वृत्ति तो कारण कहते हैं पूर्व क्षण वृत्ति होना चाहिए हाँ, वर्तमान में अनुमति काल में होना जरूरी नहीं है पूर्व क्षण वृत्ति होने से काम चल जाएगा ये कहा पूर्व क्षण सत्व मात्र कर्मत्व उपत्य तयोर योगपत्या भावे भी ये दोनों का प्रत्यक्ष और अनुमान का योगपत्य न होने पर न दोष है चेत फिर दोष नहीं आएगा ऐसा पूर्वादि करना चाहता है एक काल होने पर भी योगपत्य अभाव भी योगपत्य न होने पर भी एक साथ न होने पर भी दोष नहीं आएगा पूर्व काल में वहां हेतु रह जाएगा सर्वाधि होगा उत्तर काल में ज्ञान हो जाएगा हेतु को केवल पूर्व क्षण वृत्ति तो चाहिए एक काल में होना कोई जरूरी नहीं है आपने कहा कि एक काल में दो ज्ञान नहीं होगा अब एक काल नहीं बनेगा पूर्व क्षण करेगा सर्वण उत्तर क्षण आत्मा का अनुमिति करेगा तो पूर्वादि कहता है तयोर योगपत्याभाव की तो दोनों का योगपत्य न होने पर भी पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञान नाश्यत्व न उत्तर उत्पत्ति क्षण स्थिति अंगीकारात इदम अपरम विरुद्धम सिद्धांत के बाद में यदि विरुद्ध दूसरा विरुद्ध आएगा क्योंकि नैयायिकों का कहना है ज्ञान का लक्षण करते हैं नैयायिक वैशेषिक तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगिता ज्ञान से लक्षण ज्ञान प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है द्वितीय क्षण में उसकी स्थिति होती है तृतीय क्षण में उसका अभाव हो जाता है नैयायिक आदि ज्ञान का लक्षण यही है तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस तृतीय क्षण में रहने वाला जो ध्वंस है उसका जो प्रति ज्ञान है वो तो सिद्धांति मत में यहाँ क्या होता है अनुमिति के पूर्व क्षण में आपके ये रहा लिंग ज्ञान रहा ठीक है और अनुमिति क्षण में नाश नहीं उसका भी क्यों द्वितीय क्षण है वो तृतीय क्षण में जाके नाश होना है तो अनुमिति काल में वो प्रत्यक्ष दोनों रह गए लिंग का प्रत्यक्ष हुआ है और अनुमिति दो रह गए सिद्धांत यही बोलना चाहते हैं ये टिप्पणी में कहा पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञान नाश्य ना पूर्व ज्ञान जो होगा उत्तर ज्ञान के द्वारा नाश होने से उत्पत्ति क्षण स्थिति अंगीकारा पूर्व ज्ञान का नाश होगा उत्तर ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान हुआ है करण का ज्ञान उत्तर ज्ञान होगा अनुविधि ज्ञान उसके द्वारा नाश होना है किंतु तो अनुविधि काल में नाश नहीं हुआ उत्तर ज्ञान उत्पन्न काल में उसकी स्थिति है अगले क्षण में नाश होना है उस काल में दोनों ज्ञान रह गए तो दुर्ज्ञान होना संभव नहीं एक काल में दो ज्ञान होगा नहीं ये सिद्धांत कहना चाहते हैं ये दूसरा विरुद्ध है करके कहा योगपत्य अभाव पूर्ववादी ने कहा योगपत्य अभाव बहुत शिष्य सिद्धांत का न समय हो गया है रखते थे ओम मांग में महर्षि प्रतिष्ठिता सुधन्य महाकाशी सत्यं वदिष्यामि तन्मारा